एक बार एक आदमी अपने ग्रैंडसन को ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखाना चाह रहा था तो उसने अपने ग्रैंडसन से बोला कि एक फाइट है जो मेरे अंदर चल रही है और ये जो फाइट है ये बहुत भयानक फाइट है और ये दो भेड़ियों के बीच की फाइट है लड़ाई है दो भेड़ियों के बीच की लड़ाई है एक भेड़िया जो है बुरा है दुष्ट है जो कि गुस्से वाला है जलन महसूस करता है दूसरे को देख के बहुत दुखी किस्म का है और अफसोस है लालची है झूठा है अहंकार से ईगो से भरा हुआ है लेकिन दूसरा जो है वो बहुत अच्छा है जो कि शांत मिजाज का है खुशी है और प्यार है उम्मीद वाला है दयालु है सच्चा है विश्वास के लायक है विश्वास लायक है और ये एक्चुअली में फाइट तुम्हारे अंदर भी जा रही है और तुम्हारे अंदर ही नहीं बल्कि ये सारे लोगों के अंदर ये फाइट हो रही है तो ग्रैंडसन कुछ देर सोचने के बाद अपने ग्रैंडफादर से पूछा तो फिर कौन सा भेड़िया जीतेगा तो फिर ग्रैंडफादर ने रिप्लाई किया कि जिसको तुम खाना खिलाओगे तो अब इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि किसी भी इंसान के अंदर दो किस्म के थॉट्स होते हैं दो किस्म की थॉट्स अंदर चल रहे होते हैं एक तो गुस्सा है जलन है दुख है अफसोस है लालच है झूठ है अहंकार है और दूसरा शांति है खुशी है प्यार उम्मीद सच्चाई और विश्वास है अब ये लड़ाई जो है हमारे अंदर जारी है बल्कि सारे लोगों के अंदर ये जारी है अब इससे हमको क्या करना है कि हमें सही वुल्फ यानी जो सही वुल्फ वाला पार्ट है शांति खुशी प्यार उम्मीद दयालु सच्चाई और विश्वास वाला उसको जिताना है उसको खिलाना है उसको खिलाएंगे तो वो जीतेगा और एक लेसन तो हमको ये समझ में आता है इस स्टोरी से कि जो फाइट है ये इटर्नल है मतलब फॉर हमारे अंदर रहेगा ये कभी ख़त्म नहीं होगा तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते ये हमारी ज़िंदगी में आना ही आना है और ये जो लड़ाई है ये हमारे इमोशंस जज्बात भावना आचरण बिहेवियर और आदतों पे अप्लाई होता है बल्कि हमारी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स पे अप्लाई होता है तो फिर हम किस वुल्फ़ को खिलाएँगे तो हमें ज़ाहिर सी बात है राइट वुल्फ़ को खिलाना है फ़ीड करना है तो कैसे स्टार्ट करें तो एक्चुअली में जो पहला वुल्फ़ है फर्स्ट वुल्फ़ है उसको फिट करना बहुत आसान है वह आपको आसान रास्ता बताएगा ज़िंदगी में जो आसान रास्ते हैं जैसे कंप्लेन करना टालना किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना गिव अप कर देना ये सब पहला वुल्फ़ का काम है पहली वुल्फ़ पहले वाले वुल्फ़ का काम है ये और जो दूसरा है उसका क्या है कि वो थोड़ा सा हार्डर है उसको उसको फिट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है और टाइम लेता है वो सीखने में सिखाने में उसको इंस्पायर करने में तो बहुत टाइम लगता है और पहले वाला जो बहुत आसानी से हो जाएगा बिना एफर्ट के हो जाएगा बहुत आसानी से लेकिन दूसरा वाला टाइम लेगा लेकिन एक बार जब बन गया तो फिर वो काफ़ी अच्छा रहता है तो अब हमें डिसाइड करना है कि कौन से वुल्फ को हम फीड करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस वुल्फ को आप फीड करेंगे वो वुल्फ डिफाइन करेगा कि आप कैसे इंसान बनते हैं और हम सब जानते हैं कि हमें दूसरे वुल्फ सेकेंड वुल्फ को हमें फीड करना चाहिए भले ही ये हार्डर है इसको हार्ड है फीड करना लेकिन हमें सेकेंड वुल्फ को ही फीड करना चाहिए इस तरीके से अगर हम सेकेंड वुल्फ को फीड करते हैं तभी जाके हम अपनी ज़िंदगी में कुछ सक्सेस हासिल कर पाएंगे